वही चीजें हो वही हलवा वही पूरी जो हम लोग खाते हैं बड़े प्रेम से तो जब हम अपने को भोक्ता बनाते हैं तो भोग का बंधन जब हम अपने को कर्ता बनाते हैं तब पाप पुण्य का बंधन सुख दुख न वस्तु में है न क्रिया में है न भाव में है शांति में भी नहीं है बोला ये फालतू ही सुनते हैं एक आदमी का महाराज उसकी कोई चहेती हो रखती बहुत सुंदर और उससे बहुत प्रेम करते थे उसने कहा कि हम अमुक समय पर तुम्हारे पास आएंगे तुमसे मिलेंगे अब महाराज उस साधनी के गुरु जी को पता लग गया कि ऐसी गड़बड़ करने वाला है तो गुरु जी ने कहा आओ बेटा जरा बैठो हमारे पास बैठो और सिर पे हाथ फिराने लगे बड़े प्रेम से और जरा एक गले में इतना सोती है वो दबा दिया उसको चेला जी को सो लग गई उनको बलात् समाधि वो तो बैठे ही रहेंगे दूरी पड़े गए अब वो स्त्री आई बेचारी अब वो में से तो हाथ बंद करके अरे क्या ढोम कर रखा है जाके सिर में हाथ पकड़ के लाया क्या ढोम कर रखा उसको तो मालूम नहीं भाव आए नहीं हाँ। जब वो समय बीत गया तो गुरु जी ने आके फिर हाँ, होश में कटे अरे वो तो पछता है कि हाय हाय इतना बड़ा सुख हमको मिलने वाला था आज गुरु जी ने चौपट कर दिया था ना अब लगी तो समाधि परंतु उसको जो भोग में सुख की कल्पना थी उस कल्पना के कारण उसको समाधि का सुख नहीं मिला वासनावान को शांति का भी सुख नहीं मिलता है बोला और मन में खूब गंदगी का भाव कर दिया जाए तस्त्री तो का स्पर्श भी बड़ा भारी पाप है तो जब किसी ग्रंथ को छू जाए और छू जाए तो यहाँ के गंगा स्नान करेगा और दिन भर हो हाँ, हाँ, दिन भर भूखा रहेगा तो आज बड़ा गलत बड़ा गलत काम हो गया राम राम राम तो ये सब मानस है न करता सिंह न भोगता से मुक्त वास सर्वदा तुम वो हो मानसानी न पे विभो तुम कौन हो तो तुमको मौत की सजा सुनाई ही नहीं है जैसे जो लोग समझते हैं कि कभी न कभी मरेंगे मानते हैं कि कभी न कभी मरेंगे दो बरस दस बरस बीस बरस में तो उनके मन की स्थिति क्या है कि हमको तो मौत की सजा सुनाई हुई है एक दिन फांसी पर बैठना पड़ेगा यही तो हालत है ना अरे लटको दो नाई फांसी पर एक दिन लटका है और विभो तुम बिहू हो तुमको फांसी पर कोई नहीं लटका सकता जन्म में आए जन्म हुआ शरीर में आए तो कैसे डाले गए शरीर में आए तो कैदी बनाए गए और मरोगे तो मौत की सजा फांसी होगी तो ये शरीर न मैं हूँ न मेरा है न तो मैं कैद में हूं और न तो मेरी फांसी होगी तो दो चीज से छूट गए आप तुरंत छूट गए विभो देखो विभो नरक में कैद स्वर्ग में कैद दर्दलोक में कैद शरीर में कैद वैकुंठ में भी कैद होते ये कैद है जहां मरना होता है वह फांसी की सजा है और जहाँ एक घेरे से हम बाहर नहीं निकल सकते वहाँ कैद है कैदी हो तुम कैदी संसार से थी संसार राजा ने कहा हमारे आओ तो दरवाजे पर सिपाही बंदूक लिए खड़े थे फाटक पर तो ये क्या राजा कहाँ रहता है तो भीतर तो बोले कि तब तुम लोग क्यों खड़े हो उनका टहरी तो में जेल खाने में उनको डर लगता है नहीं मिला टहरी से नहीं मिला लौटे तो राजा आया लौट नहीं महाराज नहीं महाराज देखो तो, हाँ, दुष्टों के लिए है आपके लिए हो रही है प्रधान आप गए हाँ, और राजा मानने लगा हे भगवान महाराज इतना बड़ा राज्य है इससे और बड़ा होगा हमारे पास हमारा और हम समृद्ध हों और धनी हों और हमारी सेना बढ़े और हमारे बेटा बेटी हो फकीर ने कहा पर हम तो तुमको राजा समझ के आए थे तुमको भिखारी हो मानते हो हमको ये चाहिए ये सही ये सही सब ही दरिद्र यह से कृष्णा विशाखा तुम इसको समझते हो किसको बड़ा समझते हो जैसे ये आजकल के बालक लोग हैं ना जवान लोग हम लोगों को भिखारी समझते हैं हमको नहीं समझते तो हमारे भाई बंधुओं को समझते हैं हम उन लोगों को भिखारी समझते हैं जो मानते रहते हैं चाहे ईश्वर से माने चाहे जीव से हम उनको भिखारी समझते हैं हमारी महत्व बुद्धि नहीं उनके वो कहते हैं कि साधु लोग किस्मत के मारे हैं है? और हम कहते हैं ये किस्मंगे गंदा ये चाहिए ये मानसार तुम गुरु हो गुरु गुरु माने व्यापक न तुम किसी देश की कैद में हो और न तो तुम काल की मौत से घिरे हुए हो और न तो दुनिया में किसी चीज से या किसी आदमी से या किसी स्थिति से बने हुए हो साधु माने जो किसी भी स्थान को छोड़ सकता हो जो किसी भी व्यक्ति को छोड़ सकता हो और किसी भी वस्तु में शरीर तक में जिसकी आसक्ति ना हो वस्तु और व्यक्ति इनमें आसक्ति न हो प्रदीप अंतर दृष्टि और जगमग जगमग भी चल रही है जगमग जगमग मुक्त वासी कर तो तुम्हें मुक्त होना नहीं है तुम सर्वदा मुक्त हो थे इतना यज्ञ करोगे तब तो मुक्त होोगे उसका तो अर्थ है कि जो पैसा इकट्ठा किया है उसका दान करो सर्वस्व रक्षण धर्म करने से मुक्ति होगी इसका मतलब यह है कि जो इकट्ठा किया है उसको निकालो हाँ। तुमने इसको नहीं इकट्ठा किया है इसने तुमको बांध लिया है छोड़ो अपनी तकलीफ को तो समझते हैं भगवान की उपासना करो इसका मतलब क्या है ये जो संसार की वासनाएं है ना उपासना तो तुम कर रही हो किसकी करते हो अपनी चहेती की करते हो प्रेसी की करते हो अपने प्रियतम की करते हो पति की पत्नी की रिश्तेदार की नातेदार की पानी की बहनोई की उपासना करते हो भगवान की उपासना करो हमें ये संसार की उपासना छोड़ो इतना ही मतलब है मन की चंचलता से तुम परेशान हो ये देखो कि तुम मन के नौकर नहीं हो मन तुम्हारा नौकर है योग मानी क्या योग मानी इतने नहीं कि तुम मन के नौकर नहीं हो कि जहाँ घसीट ले जाए चलो इंस्टाग्राम में और चलो क्लब में और चलो होटल में और चलो है? मैं जहाँ नहीं चले जाए वहाँ तुम चले जाओ तुम मन के नौकर नहीं हो योग माने मन को भरा ना कर रहे तो मन के साथ जीत से बैठा लो बैठ जा बेटा अंगूठे के नाखून में ऐसे बैठ जा जीत की नोक पर बैठ जा नाभी में बैठ जा हृदय बैठ जा आज्ञा चक्र में मन की नौकरी को नाम रहो ढोकर बनाना इसका नाम है योग बोला आप लोग जाके योग दर्शन पढ़ते रहना बोला और धर्मशास्त्र पढ़ते रहना और भक्ति शास्त्र पढ़ते रहना इस जीवन के लिए सब कुछ होता है मरने के बाद नहीं इसी जीवन के लिए धर्म है हल्का अपने को हल्का करने के लिए धर्म है बुरे बुरे काम किए हैं बुरी बुरी जगह से पैसा इकट्ठा किया है दूसरों को सताया है गंदे गंदे काम किए हैं उनसे अपने को हल्का करने का नाम उनके बोझ को उतार फेंकने का नाम धर्म है बोला और वासनाएं इधर उधर भी रहते हैं उनको भगवान के चरणों में जोड़ देना इसका नाम उपासना है और मन की चाकरी छोड़कर मन को चाकर बना देना इसका नाम जोड़ है मुक्त सर्वदा बच्चे तो कोई बंधन नहीं बंधन नहीं तुम्हारी आत्मा के लिए बंधन नहीं है ये करोगे तब सुखी हो ये रहेगा तब सुखी हो ऐसा करोगे तब सुखी हो तो वहाँ जाओगे तब सुखी हो इतने दिन जीवोगे तब सुखी हो तो इसको वेदांत कहता है सब नासमझी की बात है और अज्ञान अज्ञान माने नासमझी ये भूत है ये नासमझी है मानसा निलते विभू न करता से भोक्ता से मुक्त सर्वदा एक दृष्टा सर्वस्व मुक्त प्राणी सर्वदा अयमेव गीते बंधो पश्यसी परम धीरे धीरे रहो जल्दी नहीं नहीं तो मन तो आपका लग जाएगा मनोरंजन हो जाएगा लेकिन अर्थ का साक्षात्कार नहीं लय होना दूसरी चीज है और अर्थ का साक्षात्कार होना दूसरी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 धर्म और अधर्म सुख और दुख ये मन के विकार हैं मानसांग हे विभु हे व्यापक आत्मदेव ये तुम्हारे नहीं है उन्होंने बताया कि तुम विभु माने विविध रूप से तुम ही हुए हो विभु शब्द का अर्थ होता है विविधम भवती जो एक रहकर भी अनेक रूप में मालूम पड़ता है उसका नाम है विभू तो ये आत्मदेव आत्मदेव माने तो मैं आत्मदेव माने तो आत्मदेव माने स्वयं मैं स्वयं स्वयं वह स्वयं मैं अलग तो अलग वह अलग लेकिन स्वयं के स्वयं कैसे हो तो ये विविध रूप में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के रूप में तुम्ही मालूम पड़ रहे हो तुम ये देख ये देह पंचभूत का कार्य नहीं है ये पंचभूत में कल्पित है ये पंचभूत से उत्पन्न नहीं हुआ है पंचभूत में मन से कल्पित है ये नहीं कि सुन आए थे ऐसे ही और कल्पित में कल्पित है ब्राह्मण बना क्षत्रिय बना वैश्य बना और मनुष्य बना पशु बना पक्षी बना ये कल्पित में कल्पित है अब आओ धर्म और अधर्म तो इस देह में रहकर अपनी क्रिया को संग्रह को हम क्या इकट्ठा करते हैं वो संग्रह को क्रिया को जो काम करते हैं सो और जो कामना करते हैं मन में सो और जो बोलते हैं सो चार बात जो बाहर इकट्ठा करते हैं जो शरीर से करते हैं और जो मन में चाहते हैं और जबान से बोलते हैं इन चारों को काबू में रखकर मर्यादा के अनुसार व्यवहार करना इसका नाम होता है दान और इन चारों चारों को वासना के अनुसार चलने के लिए छोड़ देना इसका नाम होता है अधर्म देखो धर्म धर्म की बहुत साफ सीधी परिभाषा आपको सुनाती जब आपकी जबान बुरी बात बोलने चलती है तो आप उसको रोक लेते हैं कि नहीं रोक पाते हैं तब तो धर्म है और नहीं रोक पाते हैं तो अधर्म है जब चोरी बेईमानी का पैसा लेने के लिए चलते हैं तो आपका अंतकरण उस लेने को रोक लेता है कि नहीं रोक लेता है तब तो आप धर्म धर्म है आप और नहीं रोक पाते हैं तो अगर धर्म माने रोकने का सामर्थ्य अपने मन पर अपनी इंद्रियों पर अपनी जीव पर जो कंट्रोल है ना कंट्रोल करने की शक्ति है उसको धारण शक्ति बोलते हैं धारणा की शक्ति और जो धारणा की शक्ति नहीं है रोक लेने की ताकत नहीं है उसको बोलते हैं अधारणा तो ये अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी होती है अरबिस्तान में आप रहे हैं और हिंदुस्तान में रहे हैं तो दोनों की रखने में फर्क पड़ेगा जो रोम और अमेरिका की रहने में भी फर्क पड़ेगा और अफ्रीका की रहने में भी फर्क पड़ेगा और कंट्रोल का तरीका अलग अलग होगा अच्छा अब देखो धर्म क्या है धारणा धर्म की व्याख्या मैंने की यस्या धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चय धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारे प्रजा यस्या धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चय अच्छा जो दूसरे के धर्म पालन में बाधा डाले वो भी अधर्म है हाँ, जैसे मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा हो और तुम नगाड़ा बजाते हुए ढोलक बजाते हुए चिल्लाते हुए जाके वहाँ हाँ, बाधा डालो तो उसमें बदला लेने की भावना है धर्म नहीं है धर्मम को बाद बाधते धर्मो न सधर्म सुधर्म कर जो दूसरे के धर्म पालन में बाधा डालता है वो धर्म नहीं है तो धर्म है अविरोधी तो जो धर्म सधर्मो नृपुंगव जो धर्म अविरोधी होता है उसको धर्म कहते हैं अब देखो तो पाप पूर्ण क्या है संस्कृत भाषा में पाप शब्द की जो उत्पत्ति है उसको बहुत थोड़े लोग जानते हैं व्याकरण के पंडित के भी ध्यान में वो बात नहीं होती ये पा धातु है वो रक्षण के लिए रक्षण के अर्थ में है पा धातु और अपादान अर्थ में इससे होता है पा प्रत्यय तब पाप शब्द करता है इसका अर्थ है आप अपनी रक्षा से दूर हो गए जिस काम से आपकी रक्षा होती आपका शरीर मन इंद्रिय संप्रसन्न सुरक्षित रहता उससे आप दूर हट गए इसका नाम हो गया पाप ये व्याकरण के अनुसार पाप शब्द का अर्थ है पाप धातु है रक्षणार्थक और उससे अवणाधिक पौ प्रत्यय है इसका नाम होता है पाप जैसे आपको बुरे कर्म से बचाने वाला है शास्त्र उससे आप दूर हो गए तो पाप हो गए आपको गुरु बुरे कर्म से बचाने वाले हैं आपके हितैषी गुरुदेव हाँ, हाँ, उससे आप दूर हो गए पाप हो गए आप अभिमान में आकर जब कोई काम करने लगते हैं कि हमारा कोई क्या करेगा तब पाप हो जाता है तो तीन बाप और धर्म और धर्म थोड़ा थोड़ा सबके जीवन में रहता है ऐसा दुनिया में कोई नहीं है माई का लाल कोई छापी ठोंक कि मैंने कोई साथ नहीं दिया है मैं सब नहीं करता हूँ तो या तो वो ढोंगी है बोला और या तो इतना ना समझ है कि अपने पाप होने को हो वो समझ नहीं पाता अब किसी के मन में समझ आई कि हाँ हमारे पाप थोड़े हैं तो उसको पाप के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और पुण्य का फल नहीं चाहना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक साधना हो पाप का तो करना चाहिए प्रायश्चित हमसे गलती हुई है ये धर्मशास्त्र यही कहता है कि पाप का प्रायश्चित करना चाहिए लेकिन देखो मालूम नहीं है कि हमने कितने पाप किए आप लोगों ने कभी कर्मकांड में मातृ संकल्प सुना हो मातृ संकल्प ये बड़े को जानते तो महाराज जन्म निर्माण करके ज्ञान अज्ञान पापों की गिनती कराई जाती है ये किया हो ये किया हो ये किया हो आधा घंटा लगता है तो पापों का नाम लेने में हो आधा घंटा घंटा भर लग जाए तो हमने ये किया होगा ये किया होगा ये किया होगा याद भी है नहीं भी है तो उसका प्रायश्चित होता है उसको हिमाद्री हिमाद्री प्रायश्चित हिमाद्री संकल्प बोलते हैं हाँ, प्रायश्चित लेकिन फिर भी क्या उन पापों का प्रायश्चित हो सकता है प्रश्न तो ये है लाभोत्तर चीजें करना वो दब जाते हैं पूर्ण कर्म गो दान करोगे ब्राह्मण को दान करोगे समझ करके उसका मतलब? जान बूझ के मैं ये बात कर असल में अपने कर्मों से दबे हुए प्राणी के लिए ईश्वर की शरणागति तो धर्म का एक हिस्सा तो ये कहता है कि पाप का प्रायश्चित करना चाहिए और धर्म को निष्काम कर देना चाहिए दूसरा हिस्सा ये कहता है कि जो कुछ तुमने पाप पुण्य किया है वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है और उसके अनुसार फल तुमको ईश्वर देगा फल बताओ ऊपर है तो बहुत बहुत देश तो मानते हैं कि कर्म ही अपना फल दे देता है और हमारे आस्तिकों में पूर्व मीमांसक ऐसा मानते हैं कि कर्म अपना फल अपने आप ही दे देता है कर्म का संस्कार अपूर्व अंतकरण में रहता है और समय पर उसका फल हो जाता है और वेदांती लोग मानते हैं कि नहीं कर्मानुसार फल ईश्वर देता है मुसलमानों का और ईसाइयों का कहना है कि यदि ईश्वर कर्म के अनुसार फल देता है तो ईश्वर एक मैनेजर के समान हुआ जिसने जितनी मजदूरी की है उसका उतने ऊपर हक है और उसको उतना फल ईश्वर को देना ही पड़ेगा ईश्वर कर्म पराधीन हो गया तो हिंदुओं का ईश्वर कुछ स्वतंत्र नहीं है ऐसा मुसलमान और ईसाई बोलते हैं और हिंदू लोग बोलते हैं कि यदि ईश्वर कर्म के अनुसार फल न दे अपनी मौज से ही किसी को कोढ़ी बना दे और किसी को सुंदर और अपनी मौत से ही किसी को दुखी बना दे सुखी तो ईश्वर बड़ा भारी अन्यायी सिद्ध होगा किसी का पक्षपात करता है किसी के साथ अन्याय करता है इसलिए ईश्वर कर्म का फल तो देता है परंतु जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल देता है और ईसाई मुसलमान मानते हैं कि कर्म के अनुसार फल नहीं देता है पैगंबर लोग जो है ना चाहे इकलौते पुत्र हो और चाहे पैगाम लाने वाले संदेश हारे हों जब वो सिफारिश करते हैं कि इसको गृहस्थ में भेजो तब ईश्वर गृहस्थ में भेजता है और जब वो सिफारिश नहीं करते हैं तब उसको दोजक में नरक में भेज देता है आपको कर्म की बात सुनाते हैं देखो हमारे जीवन में ईश्वर की जरूरत कहाँ पड़ती है कर्म के फल के कर्म के अनुसार फल लेने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम निराश होते हैं उदास होते हैं जब हमारा कोई आश्रय नहीं रहता है जब हम सोचते हैं कि हम अपने कर्म से पार नहीं हो सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण के लिए तो उसका धर्म उसकी रक्षा करेगा पर चंडाल के लिए क्या होगा सब तो प्रजा है ना सदाचारी के लिए तो ईश्वर मददगार होगा और दुराचारी बेचारे की क्या गति होगी तो निराश्रय के आश्रय के रूप में ईश्वर की जरूरत पड़ते हैं हम मान लेते हैं कि हमसे बहुत बुरे काम हुए हैं हमने बहुत बुरी चीजें इकट्ठी की हैं हमने बहुत बुरे भोग भोगे हैं जबान से बहुत बुरी बुरी बातें बोली हैं और जन्म जन्म में अनाथ काल से अब तक परंतु ईश्वर इतना कृपालु है इतना मेहरबान है ऐसा रहीम है वो रहमान है ऐसा करुणा करुणालय है ऐसा परम कृपालु है कि जहां हम उसके सामने जाएंगे वो सब माफ कर रहे हैं यदि ईश्वर के प्रति की आस्था न हो भक्ति कोई तो न्याय लेने के लिए भक्ति करते हैं एक जज के सामने जाके खुशामद करते हैं वो हाथ जोड़ते हो कि हमारे साथ न्याय करना तो सबके साथ ठोक के कह दो कि हमारा सत्य पक्ष है न्याय पक्ष है, है? हमारे पक्ष में आपको होना ही पड़ेगा जहां आदमी आपके पाप है आपकी दुर्भावनाएं हैं आपकी दुर्वासनाएं हैं आपके दुर्वचन हैं आपके दुर्गुण हैं एक नहीं अनेक हैं तब हाँ, ईश्वर आपकी जहां आपका कोई मददगार नहीं है वहां ईश्वर मददगार है जहाँ कोई सहारा नहीं है वहाँ ईश्वर सहारा है तुम तो अपने हितैषी से दूर पड़ गए क्या सहारा है तुमको बोलते हम आओ हम सहारा देते हैं अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेगा उसका कल्याण हो जाएगा है ना सारा ऊपर ऊपर करने के लिए पाप मुक्त होने के लिए वो भगवान का नाम सहारा है जो अजामिल जैसे पापी का भी उपहार करता है क्या तुम्हारे राज्य में गणिका के लिए कोई कानून नहीं है क्या राज्य तो जो ईश्वर गणिका की भी मदद करता है अजामिल की भी मदद करता है हाँ। जो कुब्जा को भी अपनाता है जो केवट को भी नींद बनाता है जो बानर के साथ भी रहता है जो चीज को भी अपने कंधे पर लेंगे जगाई की धूल जगाल सौ जारी हाँ, उस ईश्वर की जीवन में आवश्यकता होती है जब आदमी स्वयं निराश्रय हो ये धर्म मार्ग जो हमारे हैं पाप करने से बचाने के लिए हैं पाप होने पर प्रायश्चित बताने के लिए हैं हाँ, है? पाप का दंड मिलेगा ये भी पाप से बचाने के लिए अच्छा और भगवान की शरण में जाओगे तो वो तुमको निराशा में आशा देंगे अब देखो ये है विवेक का मार्ग ये क्या है मानसानी नो ये धर्म धर्म ये सुख दुख क्या है मानस है मानस तुम्हारे मन में माता के पेट में पिता के पेट में आने से लेकर और अब तक तुम्हारे मन में कुछ बातें भर दी हैं वो मुसलमान के अलग है मजहब सब अलग अलग हैं वो मुसलमान के अलग है ईसाई के अलग है पारसी के अलग ये के अलग सिख के अलग और हमारे जैन बौद्ध के अलग हैं और आज समाजी सनातनी में अलग है और सनातनी में वैष्णव शैव शाक्त गाणपत शाक्त के धर्माधर्म अलग होते हैं और वैष्णव के धर्माधर्म अलग होता है अद्भुत है वो मानसा में यदि ये मानस नहीं होते तो अलग अलग कैसे होते तब तो अरे भाई हमने किए तो हैं बोले नहीं कबीर जतन से होगी जो कि जो धरती रूप चल रही उस कपड़े को उतारने को जिस पर ये दाग लगे हैं तो मेरी चुनरी में लागा दाग है ना एक एक पद मेरी चुनरी में लागा दाग अपनी पिया के पास मैं घर कैसे जाऊंगी मेरी चुनरी में लगातार मैं घर कैसे जाती तो ये जो चुनरी है ये जो साड़ी है ये जो झोला है ये बदल देने का है वो पिस्तौल फेंक देने का है वो लाठी फेंक देने की है खास खास औजारों को अपने हाथ में दे के तुम करता बने हो और खास खास औजारों को अपने साथ जोड़ के तुम भोगता बने हो भाग गुदाम हाँ, मूत्रेन्द्रिय पाप और जीव ये कर्म के साधन है पांच और कान और त्वचा आख जीव स्वाद लेने वाले ना इनको लेकर तुम भोगता बनते हो और इनके बिना भी अपने मन के दो हिस्से बना के मानसिक मानसिक भोजन होता है मानसिक भोग होता है मानसिक महसूस होता है लेकिन जब मन सो जाता है तब कुछ मानता है ये बहुत लोग ध्यान धारणा करते हैं ना और कहते हैं बस बस ये तो हमारे सिवाय और किसी के पास नहीं है कहो तो दो लोग बम गोला फेंकते हैं ये जो विषयी लोग हैं जिनके मन में कामा शक्ति बहुत है वासना शक्ति बहुत है वासना बहुत है हाँ, वो शरीर के मैथुन से बचते हैं परंतु मानसिक मैथुन करते हैं तो वो देवता को लेके करते हैं तो साधना को लेके करते हैं अच्छा अभ्यास जनित नींद का नाम समाधि है हम ऐसी ही ऐसा अभ्यास कर लें कि जब चाहे जब सो जाए बस समाधि लगे और स्वाभाविक आभ्यासिक निद्रा का नाम समाधि है और स्वाभाविक समाधि का नाम निद्रा है नोट कर लो हो नोट कर लो बोला जब अपने आप समाधि लग जाती है तब हम इसको नींद बोलते हैं